वकीर और इब्न नुमैर दोनों ने मालिक बिन मेगवल से इसी सनद के साथ इसी तरह हदीस बयान की अलबत् वकी की हदीस में है मैंने पूछा तो लोगों को वसीयत का कैसे हुक्म दिया गया है और इब्न नुमैर की हदीस में है मैंने पूछा मुसलमानों पर वसीयत कैसे फर्ज की गई है सही मुस्लिम हदीस नंबर चार हजार दो सौ अट्ठाईस